लेकिन तब तक सुमोना बोतल के दूध को खत्म कर चुकी थी मिस्टर मेहता लाचार नजरों से उसके सामने खड़े थे तभी उनकी नजर रोनित के उस बैग पर पड़ी जिसमें से उसने दूध का बोतल निकालकर सुमोना को दिया था क्योंकि रोनित और उसकी माँ अपनी सीट पर फंसे हुए थे रोनित की माँ की पीठ में तो एक लोहे का रॉड आर पार हो चुका था उनका हिलना डुलना तो नामुमकिन ही था लेकिन रोनित के लिए भी अपनी सीट से हिलना मुमकिन नहीं था उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सीट के नीचे रखे बैग में से दूध का बोतल निकालकर सुनोना को दिया था जब मिस्टर मेहता की नजर उस बैग पर पड़ी तब उन्होंने रोनित से बिना कुछ कहे ही उसका बैग निकाल लिया उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उसमें खाने पीने का काफी सामान रखा हुआ था दूध के दो तीन बोतल के साथ ही चिप्स और नमकीन बिस्किट के पैकेट भी रखे हुए थे नहीं उसे उसको मत लीजिए वापस रखिए उसको प्लीज ये मेरा सामान है रोनित मिस्टर मेहता से बैग वापस रखने के लिए कहने लगा प्लीज अंकल वो सब मेरी माँ के लिए है उन्हें भूख लगी होगी वापस दीजिए मेरा बैग ओह ओ रोनित की माँ भी किसी तरह हिम्मत करते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनके मुंह से कुछ भी साफ आवाज नहीं निकल रही थी ये क्या कर रहे हैं आप बच्चे का सामान क्यों ले लिया वापस कीजिए उसे ये क्या हरकत है मिसेज मेहता अपने पति को समझाते हुए उन्हें सामान वापस करने के लिए कहने लगी अरे तुम समझ नहीं रही हो अभी हम लोगों को अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो सब भूख से मर जाएंगे जान बचाने के लिए ही मैं ये कर रहा हूँ मिस्टर मेहता अपनी पत्नी को समझाने लगे सही बात है अभी तो हमें पता भी नहीं है कि कितने दिन में रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचेगी बस में ही सवार रेणु का अग्रवाल बोल पड़ी उसने पहली बार अपनी जुबान खोली थी हम सब लोगों की समझदारी इसी में है कि बस में जो भी खाना बचा हुआ है उसे लोग आपस में बांट लें अभी खाना किसका है और किसका नहीं ये बहस करने का वक्त नहीं है अगर हम लोगों को बचकर यहाँ से वापस जाना है तो हमें खाना डिवाइड कर लेना चाहिए अगर पेट में खाना रहेगा तभी हम जिंदा रह सकते हैं फिर रेणुका ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा बेटा वैसे भी तुम्हारी माँ अब कुछ ही देर की मेहमान है उनकी हालत बहुत खराब है अब वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकती ये सब खाना उन्हें खिलाने से कोई फायदा नहीं है इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग ये खाना आपस में बांट लेते हैं और सबकी जान बचा लेते हैं नहीं मेरी माँ को कुछ कुछ नहीं हुआ है वो ठीक है बिल्कुल ठीक है वो रोनित ने रोते हुए कहा यह सब खाना उनका है मैं उन्हें दूंगा आप लोग इसे ऐसे नहीं ले सकते वापस कीजिए मेरा बैग क्या कर रहे हैं आप लोग एक बच्चे का खाना छीन रहे वापस कीजिए उसका खाना बस का ड्राइवर शंकर बोल पड़ा बड़ा तुम चिंता मत करो मैं मैं तुम्हारी माँ को बाहर निकालता हूँ रुको इसके बाद बस ड्राइवर शंकर रोनित की माँ के शरीर को किसी तरह से सीट से बाहर निकालने की कोशिश करने लग गया उसे मत छुओ रॉड घुसा हुआ है उसकी बॉडी में हिलने डुलने से ब्लड बहेगा और वो तुरंत मर सकती है दूर सीट पर बैठा मुकेश चिल्ला पड़ा उसके कहते ही शंकर रुक गया रोनित जोर जोर से आए दहाड़ मार कर रोने लग गया उसकी माँ ने हल्की सी आंख खोली और अपने बेटे के सिर पर हाथ रख दिया रोनित ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और फिर कुछ ही सेकंड में उसकी आंख बंद होती चली गई रोनित तो मानो जैसे पागल हो गया था पहले तो वो बहुत देर तक दहाड़े मारकर रोता रहा लेकिन फिर बिल्कुल शांत हो गया उसकी आंखों से आंसू आने भी बंद हो चुके थे रोनित बिल्कुल शांत होकर बैठा रहा इस वक्त किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उस चौदह साल के बच्चे को कुछ दिलासा दे सके पूरी बस में कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा उसके बाद मिस्टर मेहता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा अब क्या कहते हो आप लोग अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें ये खाना आपस में बांटना ही होगा इसके अलावा किसी के पास कोई रास्ता हो तो बताए अभी रेस्क्यू टीम कह रही है कि उन्हें यहाँ तक आने में चार पांच दिन लग सकते हैं लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है और यहाँ हमारी सबसे बड़ी समस्या खाना ही है अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो निश्चित रूप से रेस्क्यू टीम पहुंचने तक मर चुके रहेंगे और फिर वो लोग हमारी सिर्फ लाश निकालेंगे अब आप लोग खुद सोच लीजिए क्या करना है और कुछ रास्ता हो तो बताओ इस बार मिस्टर मेहता की बातों का जवाब किसी के पास नहीं था सब सन बैठे रहे यहाँ तक कि बस के ड्राइवर शंकर के पास भी अब कोई तर्क नहीं बचा था सब लोग चुपचाप खाने में अपना हिस्सा लेने के लिए खड़े हो चुके थे बस में बहुत ही दर्दनाक माहौल बन चुका था उधर रोनित अभी भी अपनी सीट पर माँ के बगल में बैठा हुआ था उसकी आंखें मानो पत्थर की हो गई थी ये वही दिन था जब रोनित का दिल भी पत्थर का हो चुका था उसके मन में बदले की चिंगारी भड़क उठी थी इस वक्त रोनित बनर्जी पुलिस की जीप में हथकड़ी पहने बैठा हुआ था आज फिर से उसके जहन में उस बस दुर्घटना की याद ताजा हो गई थी उसे अब तक फर्स्ट एड देकर होश में लाया जा चुका था पुलिस की गाड़ी अब तक सामंत रोड की कॉलोनी से दूर आ चुकी थी लेकिन अभी भी विक्रांत की नजरें बार बार उस कॉलोनी की सड़कों पर टिकी हुई थी अभी मानो कल ही की बात थी जब रोनित के पिता ने उससे कहा था कि बेटा अब तुम लोगों को बदलापुर में रहने की जरूरत नहीं है अब हम लोग एक नए घर में चलेंगे वहाँ बहुत सारे घर हैं तुम्हें जो घर पसंद आए वो घर तुम ले लेना सच में पापा वहाँ बहुत सारे घर हैं छोटे से रोनित ने उत्साहित होते हुए पूछा हाँ बेटा वहाँ एक घर तुम लेना और एक घर तुम्हारा भाई भाई लेकिन पापा मैं तो अकेला हूँ मेरा भाई कहाँ है आपका भाई यहाँ है ये देखो रोनित के पापा ने हंसते हुए उसकी मम्मी के पेट पर हाथ फेरते हुए कहा वाह पापा अब मेरा भाई आएगा तो मैं उसके साथ खेलूंगा रोनित ने खुशी से उछलते हुए कहा और फिर वो पूरे घर में दौड़ने लगा वो दिन याद करके रोनित की आंखें आंसू से भर उठी लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी किसी ने सोचा था कि एक छोटा सा मासूम बच्चा खुद के मन में इतनी नफरत भर लेगा कि वो लोगों की जान लेने में भी पीछे नहीं रहेगा हम्म, विक्रांत ने एम्बुलेंस के भीतर अपने प्यारे शेरलॉक होम्स को गले से लगाते हुए वहां बैठी नर्स से सवाल किया नर्स ये बताओ सब लोगों को तो होश आया गया लेकिन इसको नहीं आया क्यों कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो कुत्तों की प्रतिरोधक क्षमता इंसानों से कम होती है ना इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है अब सबको होश आया गया है तो इसको भी जल्दी ही आ जाएगा नर्स ने जवाब दिया वरना अभी हॉस्पिटल पहुंच जाने दीजिए हम वहाँ इसकी चेकअप करवा देंगे वहाँ पर पेट डॉक्टर हैं अभी नर्स की पूरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि शेलॉक होम्स उठकर बैठ गया वो अपनी दुम हिलाते हुए भौंकने लगा देखा मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगा नर्स ने राहत की सांस लेते हुए कहा अरे मेरा बेटा तुझे तो मैंने डरा ही दिया था विक्रांत ने अपने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कुत्ता तो भी विक्रांत को देखकर और जोर जोर से भौंकने लगा मानो वो विक्रांत से जानना चाहता हो कि वो बेहोश कैसे हो गया वैसे इस केस को सॉल्व करने में विक्रांत के इस शेरलॉक होम्स ने भी बहुत मदद की थी अगर वो ना रहा होता तो इन लोगों को रोनित के बेसमेंट वाले ठिकाने का पता नहीं चलता और फिर शायद ही रोनित को पुलिस अरेस्ट कर पाती गजब का दिन सोचो जरा विक्रांत का फोन बज पड़ा ये नैना की कॉल थी विक्रांत ने तुरंत कॉल पिक किया ऐना को भी विक्रांत के कुत्ते शेरलॉक की फिक्र हो रही थी उसने शेरलॉक का हाल जानने के लिए ही फोन किया था विक्रांत शेरलॉक कैसा है होश आया उसको नैना ने सवाल किया हाँ अब ठीक है इसके बाद विक्रांत ने शेरलॉक की तरफ देखते हुए आजा तेरी बहन का फोन आया है बात कर ले चुप करो विक्रांत नैना ने चिड़ते हुए कहा अच्छा ये बताओ मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये स्पेशल टास्क की टीम वाले वहाँ कैसे बेहोश पड़े थे तुमने कुछ किया था क्या अरे पागल हो क्या दोबारा मत कहना ये सब विक्रांत ने नैना को चुप कराते हुए कहा एक्चुअली जब मैंने रोनित को अरेस्ट करके उसे हथकड़ी पहनाई तब मैंने देखा कि यहाँ सब लोग गैस के इफेक्ट से बेहोश पड़े हैं फिर मैं नीचे बेसमेंट में देव और राजीव को देखने के लिए गया ताकि उन्हें बचा सकूं। फिर जब मैं नीचे से वापस ऊपर आया तो स्पेशल टास्क के मिस्टर विनोद सहित बाकी के सभी ऑफिसर भी बेहोश पड़े थे मुझे नहीं पता ये लोग कैसे बेहोश हुए अच्छा चलो ठीक है नैना ने मुस्कुराते हुए कहा अब सच सच बताओ क्या हुआ था तुमने ही वो रोनित वाला गैस स्पेशल टास्क वालों के ऊपर फेंका था ना नहीं नहीं विक्रांत ने फिर झूठ बोलने की कोशिश की विक्रांत तुम मुझसे झूठ मत बोला करो मैं तुम्हारे एक एक नस से वाकिफ हूँ दुनिया को तुम बेवकूफ बनाया करो बट मुझे मत बनाया करो नैना ने जवाब दिया अरे यार तुम भी ना आखिर में विक्रांत को सच उगलना पड़ा अब बताओ मैं क्या करता यार उधर जब मैं रोनित को हथकड़ी पहनाकर नीचे गया तब तक ये लोग वहां पहुंच गए और ये स्पेशल टास्क का विनोद साला इतना कमीना है कि वो पूरा क्रेडिट खुद लेने के चक्कर में था अब अगर मैं उस वक्त कुछ ना करता तो केस सॉल्व करने का पूरा क्रेडिट यही ले जाता और फिर तुम शर्त भी हार जाती हम्म, नैना ने विक्रांत की बातों में सहमति जताते हुए कहा सही किया तुमने कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगी विनोद राय कुछ भी बोले हम लोग यही कहेंगे कि रोनित के पास जहरीली गैस का बोतल था और ये स्पेशल टास्क वालों ने वहां लापरवाही दिखाई इसी के चलते सब लोग जहरीली गैस के चपेट में आकर बेहोश हो गए वो कुछ भी कर ले हम ये साबित भी कर देंगे यस मैडम विक्रांत ने मुस्कुराते हुए पहली बार उसने नैना को मैडम कहा था